और हमने इस कुरान को खुली खुली निशानियों की सूरत में इसी तरह उतारा है और अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है